ये नहीं है कि आंख से मृत्यु दिखती है अपने से अतिरिक्त जो कुछ है वो सब मृत्युमय है और उसमें कहीं भी फंसने लायक नहीं है तो मृत्यु के माने ये नहीं है कि अपने के को मुर्दे के रूप में देख एक सज्जन व्याख्यान दे रहे थे तो कहता हूं तो नहीं कि हमारे व्याख्यान में कौन कौन बैठा है व्याख्यान देते देते उन्होंने समझाया कि आप ध्यान कीजिए कि एक पानी का बहुत बड़ा नाला बह रहा है आत्मर है और लोग अर्थी पर बांध के आपको नाले में ले गए और वहाँ ले जाकर बहा दिया पानी में और आपका मुर्दा पानी में बहता जा रहा है और आप देखते जा रहे हैं मुर्दा अलग बह रहा है और आप अलग बह रहे हैं तो इस तरह की कल्पना करने से बात नहीं बनती है इसके लिए सदगुरु की शरण लेनी पड़ती है और शास्त्रोक्त रीति से वेदांत का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है अब ये तो सब छूटता जा रहा है अर्थ जो ज्यादा व्याख्यान दे व्याख्यान देने में ही वेदांत समझते हैं या बड़े आम बान शान के साथ रहने में ही अपने को बड़ा भारी महात्मा समझते हैं वो चीज तो कुछ नहीं है परमार्थ की दृष्टि से कुछ नहीं है साधुता दूसरी चीज है और ये चमकदारी चमक दमक दूसरी चीज है अब साधुओं का अब साधुओं का दर्शन दुर्लभ हो गया है जिन्होंने बारह वर्ष तक सदगुरु का सेवन नहीं किया ये साधुता की बात को नहीं समझ सकते गोचर जहाँ लग मन जाई कहाँ लग आया जानो भाई कृपया इसका अभिप्राय समझने की कृपा करो इसका अभिप्राय ये है कि अपना आत्मा ही माया से मुक्त है और बाकी जो मन में और इंद्रियों में आता है वो सब माया का खेल है जादू का खेल है बिना हुए ही मालूम पड़ता है उसको सच्चा समझकर उसमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए जो गोचर दहलन बन जाई सो सब माया जाने उस भाई उसमें आसक्ति नहीं करना और एक माया वो है मैं और मोर छोड़ तय माया जही बस्ती ने जीव निकाया मैं और मेरा समझना तो सबसे बड़ी माया है और मैं मेरा कुछ नहीं जो कुछ दिख रहा है जैसा वैसे ही है उसी रूप में परमात्मा है ये सर्वोत्तम बात है और देखो सब लोगों को बहुत ऊंची बात पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए सब लोगों को धीरे धीरे हाथ पैजामुरी पकड़वा लेते हैं तब बच्चे को चलाते हैं इसी प्रकार पहले राम राम का जप करो रामायण का पाठ करो भगवान का स्मरण बंधन करो इसी में कल्याण है जब तक जब तक भगवान का आश्रय नहीं लेंगे तब तक कल्याण के मार्ग में नहीं चल सकते तो स्वामी जी ने तो लिखा ही है कि कौन ऐसा है जिसको क्रोध नहीं आता काम नहीं आता लोग नहीं आता नारी क्या नारी नैन सर जाहिल मारा ये पहले मालूम नहीं पड़ता है पहले तो बात करने में अच्छा लगता है देखने में अच्छा लगता है लेकिन बाद में वो जाके बड़ी भारी आसक्ति हो जाती है कई साधुओं को मैंने देखा कि पचपन पचपन साठ साठ वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और उसके बाद माता जी उनकी सेवा करने आ गए और तो माता जी से सेवा लग के लेके उनका कल्याण कर रहे हैं माता जी का कल्याण कर रहे हैं अपना कल्याण करना तो दूर रहा माता जी का कल्याण करने में लग गए इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए इस संबंध में काम क्रोध लोभ मोह ये आकर कहीं अपने ऊपर हावी न हो जाए श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जी का अर्थात मुझको अपना बिगड़ना तो पूर्णतया भान होता है पर ठाकुर का बनाना स्पष्टतया दिखता नहीं यदि निरंतर उनकी दृष्टि बनाने पर होती तो काम क्रोध जैसे शत्रु मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते अब व्यवधान पूर्वक धाम भाष करते हुए सत्संग के परिवार में रहते हुए मन में व्यग्रता बनाने बिगाड़ने का धर्म है अलग अलग सब में एक तरह से बनते हैं सब एक तरह से बिगड़ते हैं एक था बालक चौदह पंद्रह बरस का हो गया था और उसको गाली को देने की आदत पड़ गई चाहे जो आवे वह घर गाड़ी से गाली देना शुरू कर देता एक दिन आए स्कूल के इंस्पेक्टर तो उनको भी उससे गाड़ी देना शुरू किया उन्होंने भी एक रुपया दिया उसको इनाम दिया गाड़ी देना अब एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पुलिस का थानेदारा वो देखा तो भारत को उसकी बड़ी गलती उसने गाली देना शुरू किया गाली देना शुरू कर किया तो पकड़ के उसने दो चार झापड़ लगाए और पेड़ में बंधवा दिया बोले कि जब तक ये पक्का वादा नहीं करोगे ये किसी को गाली नहीं दूंगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा माने बस उसी दिन से उसकी गाली देने की आदत छूट गई कभी कभी मारने से भी बुरी आदत छूटती है और कभी कभी आदर करने से ही बुरी आदत छूटती अब ये हमारा इतना आदर करते हैं तो उनके सामने कुछ अनुचित नहीं कहना चाहिए नहीं बोलना चाहिए ये बात धीरे धीरे मन में आने लगती है इसलिए भगवान किसी को किसी धन से किसी को किसी धन से बनाते हैं बिगाड़ते हैं बनाने बिगाड़ने का ढंग भगवान को ही आता है आजकल के चित्रकार चूलिका को रंग पर लगा के कैसे भी छिड़क देते हैं और वो बड़ा कीमती चित्र हो जाता है उससे डरना नहीं चाहिए भगवान आपको बना रहे हैं बनाते बनाते जब हद हो जाएगी तो एक बार ऐसा कड़ा तमाचा लगेगा कि आप हमेशा के लिए बन जाएंगे हमेशा के लिए बन जाएंगे जन्म जन्म के लिए बन जाएंगे आप जरा धैर्य रखिए देखिए आगे आगे होता है क्या भगवान की मार भी प्यार से बड़ी होती है और उनका कभी कभी प्यार भी मार से बहुत बड़ा है देवर्षि नारद को में भी की लड़की दिखा देना हंसा देना कि मारने का काम तो था मारने का लेकिन वही हो गया सुधाकर इसलिए भगवान कल किसको किस ढंग से सुधारे इसको समझना बड़ा कठिन है आप प्रेम से इंतजार कीजिए विश्वास होना चाहिए नहीं भगवान बना रहे हैं ऐसा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे बल्लभाचार्य जी ने एक कथा लिखी है भागवत के छठे स्थान में लिखा है उन्होंने कि तो एक ब्राह्मण था बड़ा विद्वान बड़ा तपस्वी बड़ा सदाचारी बड़ा योग्य भगवान उसको देख देख करके लुभा जाया करते थे कि किसी तरह ये हमारा हो जाए लेकिन वो उनका होता नहीं तो उन्होंने एक वेश्या से उसको फंसा दिया और जब फंसा दिया तब जमराज के दूतों ने ऐसी ताड़ना दी कि वो अपने आप ही ठीक हो गया जमराज के दूतों ने एक बार दर्शन दिया उसको और वो बिल्कुल ठीक हो गया इसलिए भगवान किसको किस ढंग से सवार के सुधारते हैं इसको भगवान ही जानते हैं और उन पर कभी कभी जैसे कभी हमारे विश्वास से काम चलता है तो कभी कभी भगवान की अनुग्रह से भी काम चलता है भगवान कृपा हाँ। भगवान की कृपा भी और अनुग्रह से बढ़कर है भगवान के किसी काम को बुरा नहीं देखता तीन घंटे तक एक निश्चित संख्या में अखंड जप करने में किसी अनिवार्य कारण से बाधा आ जाए और अन्य बात करनी पड़े तो क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए यदि अनिवार्य कारण हो जाए जैसे आपके गुरु जी ही उसके न किसी हो गए आपके जाते एक अनिवार्य अनिवार्य कारण ये बिल्कुल एक कोई बहुत बड़े महात्मा आपके घर में आए ये अनिवार्य कारण तो फिर से पूरे तीन घंटे में की निश्चित संख्या पूरी करनी चाहिए तो वही मैं बता रहा हूँ हाँ। तो अब या तो फिर से उसी दिन वो तीन घंटे की जब संख्या पूरी कर रही है और यदि उस दिन किसी कारण से न हो सकती हो तो दूसरे दिन उसका दूध दूरा कर लेना चाहिए तीन घंटे की जगह छह घंटे और यदि निश्चय दृढ़ रहेगा तो वो आगे ठीक हो जाएगा आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे ये दिन में ये जो है ये आगे नहीं बढ़ना करेंगे सो आज ही करेंगे नहीं खाएंगे क्या हुआ घंटे डेढ़ घंटे से रोज भोजन करते हैं आज हिंदी भोजन करेंगे आज ही करेंगे कोई निश्चय तो चाहिए ना दृढ़ता तो चाहिए ना एडवांस पेशगी भी करके रख सकते हैं जमा के काम आएगा हमारी वाले पेशगी करना ठीक नहीं हम्म। फिर इस तरह से आदत बिगड़ेगी तो दूसरे दिन तीसरे दिन और एक हमारे मित्र थे मित्र का जानकारी नहीं थी जानते थे तो वे लोग धर्म के लिए पैसा निकालते थे हजार रुपया महीना का सौ का महीना ऐसे कुछ नियम कर रहता है जब पांच सौ रुपया इकट्ठा हुआ तो उन्होंने कहा पांच सौ क्या खर्च करें जब हजार हो जाएगा तब खर्च करें अब वो हजार हुआ दो हजार हुआ दस हजार हुआ पचास हजार इकट्ठा हो गया अब धीरे धीरे उनकी आमदनी घटने लगी जब आमदनी घटने लगी तो खर्च वो जो दान करने के लिए जो खर्च था वो भी घटने लगा और फिर धीरे धीरे दान देना बंद हो गया और सब नष्ट भ्रष्ट चौपट हो गया उनके घर में उनके घर में आके साफ रहने लगे और उनका घर भी दिख गया तो धर्म का उसका जो उन्होंने लगा दिया वो हमारे यहाँ रमेश रहता है ना नाई उसी गांव की बात है तो अंत तो गत्वा सब पीर बिल उसके मकान में बड़ी बड़ी आदमी क्योंकि पहले हजारों रुपया नहीं निकालती बड़ी बढ़िया हवेली थी अब उसमें सांप रहने लगे और वो तो 500 सौ रुपये में हम थे तो हवेली बिक गए इसलिए धर्म का रुपया यथाशक्ति तुरंत खर्च करते जाना चाहिए उसको रखना नहीं चाहिए गीता के आठवें अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण को और चौथे श्लोक में श्री कृष्ण भगवान स्वयं को अधिजगत किस दृष्टि से कहते हैं अहम ही सर्व विज्ञान हम भूखा च प्रभुरे उच्च न तो वामभिजानती तत्व नाकुशवंत यज्ञ करने की प्रेरणा देने वाले भगवान और यज्ञ का निर्वाह करने वाले भी भगवान और वो हमारे इसी हृदय में इसी हृदय में रहते हैं जब उनकी शक्ति जब उनकी प्रेरणा हमारे सद्भाव में से होकर गुजरती है तब तो हम अच्छे काम करने लगते हैं और जब हमारे दुर्भाव में से भी गुजरने लगते हैं तब तो बुरे काम करने लगते हैं तो हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हमारे हृदय का दरवाजा उसकी खिड़की सद्भाव के लिए हमेशा खुशी रहे खुली रहे कि भगवान की कृपा उसी में से हमेशा निकले और हम अच्छे अच्छे काम करते रहे यज्ञ जितने भी यज्ञ होते हैं वैसे तो यज्ञ सब होता है तो ऐसा कोई काम नहीं है कि यज्ञ न हो ये सूर्य यज्ञ कर रहे हैं सबको प्रकाश प्रदान कर रहे हैं अग्नि सबको दान कर रहे हैं जल सबको दान कर रहे हैं पृथ्वी सबको दान कर रही है अंगादी का आकाश सबको दान कर रहा है दान की क्रिया पृथ्वी में शाश्वत हमेशा से चली आ रही है और होती रहती है जो जिससे भगवान अच्छा काम कराए तो समझना चाहिए कि भगवान अब इसको अच्छे रास्ते में ले जाना चाहते हैं और जिससे बुरा काम होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि भगवान एक बार इसको साबुन पानी में डाल गर्म पानी में डाल उसकी मनाया चाहते हैं इसलिए इसलिए हमेशा ही आदमी को बड़े प्रेम से इंतजार करनी चाहिए कि भगवान हमें शुभ करना कर देते देखो आएगी आएगी आएगी और आपसे बहुत अच्छा काम हो रहा है विश्वास से बढ़िया और कोई वस्तु नहीं जब तू भजो चले हरिश्वर और तज विषय विकार सार भज अजहूँ जो मैं कहूँ सोई कहूँ अपने मन को भगवान की ओर लगाए रखो तुम्हारा कल्याण होगा सुंदर होगा इसमें अविश्वास का कोई कारण नहीं अब तक कितने संत महात्मा सृष्टि वे सब भगवान पर विश्वास करके और अच्छा काम करते रहते जहां जहाँ तक हो सके ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे जीवन की तपस्या क्षण हो जाए जैसे आप क्रोध करते जब जिस समय क्रोध की गर्मी शरीर में बढ़ती है उस समय आपका सद्भाव जल जाता है जो जो अच्छे भाव आने वाले होते हैं संसार में वो जल जाते हैं और जिस समय आपके मन में काम का उदय होता है उस समय वो काम वासना जो है वो आपके शरीर को जला देती है और उसका जो वीर्य है जो शक्ति है जो तप है वीर्य को ही तप कहते हैं जिस समय आप तपस्या करेंगे अपने इंद्रियों को संयम में रखेंगे मन को अच्छे भाव में रखेंगे प्रत्येक आपकी शक्ति बढ़ती रहती और सद्भाव करने का जो काम है वो भी आपके जीवन पे आता जाएगा आपको अच्छा काम करने का अभ्यास होना चाहिए अच्छाई करने का अभ्यास होना चाहिए बुराई करने का अभ्यास नहीं होना चाहिए जहाँ तक हो सके दूसरे की भलाई दूसरे की भलाई करते चलिए भगवान सर्वत्र है सब में है व्यापक है सदा है अणु अणु में फिर भी शास्त्रों में आता है कि भगवान वैकुंठ से आए कमरे से प्रकट हुए स्वधाम पधार गए ये सब कैसे हो सकता है उसी से तो हो सकता है क्योंकि वो सब जगह रहते हैं तो चाहे जहाँ से आ सकते हैं जहाँ जा सकते हैं वो तो हर जगह हर समय हर कण में मौजूद रहते हैं एक लकड़ी का खंभा था का कशिपु के दरबार में बड़ा मोटा तगड़ा पहले पहले पत्थर का और लोहे का खम्बा नहीं लगाते थे पत्थर का तो लोहे लकड़ी का खम्बा लगा हुआ जब गुस्सा आया हिरण कशिपु को तो उसी को उसने बड़े जोर से एक भूसा खंभे को लगाया और उसका हाथ तो टूट गया अर्थात तो टूटी गया और वो उसकी जो सारी शक्ति है वो क्षण हो गई और ऐसी घबराहट हुई कि उसको अपना कान एकदम प्रत्यक्ष दिखने लगा और मालूम पड़ा कि उसको चीर चीर के अलग रख रहा है इसलिए अपने को बहुत सावधान रखना चाहिए और भगवान का नाम लेते चलो स्मरण करते चलो किसी न किसी बहाने भगवान का स्मरण करते चलो बस तुम्हारे कल्याण कल्याण होगा कल्याण का सबसे सुगम मार्ग यही है कि हम भगवान का नाम लें एक बात आप ध्यान रखें पांव से आप प्रदक्षिणा करें तो चलना तो नहीं कितना कठिन है हाथ से कोई काम करे तो कितना कठिन है लेकिन जीव जरा सा हिला के राम राम राम राम राम भगवान का नाम लेके चलिए देखिए आपका कैसा हो गया कैसा मंगल में निरंतर भगवान का स्मरण होगा और आपके द्वारा भगवान का स्मरण होगा और साथ ही साथ जहाँ तक हो तो सके तो शत्रु का तो स्त्री का धन का बदमाशों का चिंतन नहीं जहाँ तक पूछते बढ़िया से बढ़िया काम करना चाहिए और यदि ऐसा भी लगे कि स्त्री पुरुष है और ऐसा भी लगे कि हम लोग तो सत्संग की बात करते हैं और तो बहुत बढ़िया बात आपस में करते हैं तो उस समय भी डरना चाहिए क्योंकि वो आकर्षण न जाने के कब बुराई के रूप में बदल जाए जहाँ तक हो सके खुले में बैठ के बात करने के लिए एकांत में बैठ के तो बात करना ही नहीं चाहिए अपने आप को यदि संभालना है तो निरंतर संभालने से ही काम चलेगा आपके श्रीमुख से सुना एक बिच्छू का डंक डंडे से दबाने के कारण बहुत दिनों तक आपको ऐसा भागता रहा जिससे नरक की जंत्रणा भोग रही भगवान हम लोग सत ना जने ऐसे प्राप्त प्रमाजित कितने हो जाते कृपया बताएं कि इसके लिए क्या प्रायश्चित करें जिससे मृत्यु के समय जब मन कमजोर हो जाता है तब ये पाप याद न हो इसके लिए प्रायश्चित करने की ज्यादा नहीं सोचनी चाहिए इसके लिए सावधान रहने की बात ज्यादा सोचनी चाहिए पहले से ही सावधान रहना चाहिए कि हमसे कोई गलत काम न हो जाए और यदि हो जाए तो जैसा पाप हो वैसा प्रायश्चित करना चाहिए के करना चाहिए धर्म भक्त और अपनी शक्ति के अनुसार लोगों को संतुष्ट करना चाहिए जहाँ तक हो सके लोगों का भला करना चाहिए से हम दिखावा से कैसे बचे हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम जो कुछ करें अपने दिखावे के लिए ना करें जब हम जश और सम्मान की अपने समकालीनों की प्रशंसा की इच्छा करने लगते हैं तो शीघ्र ही उनकी ओर झुकने को बाध्य हो जाते हैं हाँ। अब हम आत्म प्रशंसा के अवसर तब हम आत्म प्रशंसा के अवसर ढूंढने लगते हैं हाँ। सहज ही अपने आप को वैसा मानने भी लगते हैं हाँ। हम वास्तव में नहीं है हाँ। और ये चीज हमारे अंदर के आदर्श को अधिक धुंधला बनाने वाली होती है उसके लिए सभी दृष्टियों से इसको वर्जित माना जाता है सम्मानाद ब्राह्मणों ने किया खुद विजय का विषाद हुआ ब्राह्मण का कोई ज्यादा सम्मान है तो वो एक दिन झूठी गवाही दिलाएगा निश्चित समझो कि एक दिन तुमसे वो कोई बुरा काम करा लेगा और यदि तुम्हारे पूजा पाठ सिद्धि की कोई प्रशंसा करेगा तो एक दिन अपने लिए वो पूजा पाठ सिद्धि तुमसे करवाने लगेगा इसलिए बहुत सावधान रह करके यदि कोई ज्ञान की बात जरूरत से ज्यादा जितना उसको सीखना चाहिए उससे ज्यादा करता है तो वो आगे चल करके सिखाने के काम में वो उसको मिल जाए अपने सीखने के लिए तो बहुत थोड़ा काफी होता है और दूसरों को सिखाने के लिए बहुत की जरूरत होती है इसलिए जहाँ तक हो सके थोड़े अपने आप को संभाल लेना चाहिए और प्रशंसा भले मानुषों की चाहिए और जो दुर्जन है उनकी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए क्योंकि जैसे लोगों की प्रशंसा सुनोगे जैसे लोगों पर श्रद्धा करोगे जैसे लोगों के बीच में ज्यादा बैठोगे उठोगे वैसे बनने का तुम्हारा बल हो जाएगा इसलिए पहले से ही सावधान रह करके बुरी संगति से बचना चाहिए और यदि आपके साथ आपके पास बहुत समय हो तो आप भजन कीजिए ना कितना सुविस्ते का मार्ग है कि हाथी काम से बैठ जाइए भगवान की माला कीजिए पाठ कीजिए आपके पास बहुत समय है तो उसको अच्छे काम में लगाइए अपना अपना निकलेगा होता तो व्यक्तिगत दोष ही है और वो आनंद से नहीं लेते नहीं आनंद को निकालना पड़ता है जैसे कुएं में से पानी निकालना पड़ता है उसे ये आनंद ये आनंद भागवत है भगवान के नाम के भर इसमें मूल बात ये हुई कि लोग अपनी ओर से आनंद को प्रकाशित करने के लिए कोई प्रयास न करते भगवान ही हमारे लिए सब कर रहे हैं ऐसा सोचना सोचना ये चाहिए कि हमारे हृदय में से रोम रोम आनंद आनंद की भाषा पड़ रही आनंद की वर्षा हो रही ये रहा आनंद ये रहा आनंद ये आनंद को नहीं देखते हैं कि जब करते रखते हैं सो भी जब भी कायदे से नहीं करते बेकायदे करते हैं बेकायदे का मतलब ये है कि जिसे शांति से सरलता से उसको भगवान का नाम महत्व बुद्धि चाहिए उसमें भगवान का नाम चाहिए वेदांत के विचार में निकलता है और सफल हुआ आनंद वो वैराग्य वेदांत में वैराग्य की कमी से होता है वैराग्य हो संसार में कहीं मन जाएगा अपने आप अपना आप ही आनंद है जब अपना आप ही आनंद है तो कहीं से आनंद लेने की जरूरत है भगवान का नाम नहीं जाना हाँ और धर्म में हमने कोई बहुत महत्वपूर्ण कर्म किया नहीं आना चाहिए कर्मजन्य तुष्टि ये जो पड़े रहते हैं ना पेट पर हाथ फिराते हुए और पेट खाएंगे और थोड़ा पेट पर हाथ फिराते हुए और थोड़ा पेट का हाथ पाव कराते बैठ के तो उन लोगों को तो किसी आनंद का हमारे भौतिक आनंद का भी अनुभव नहीं होगा क्योंकि बाद में पाचन पाचन शक्ति की कमी हो जाए और वो बीमार पड़ जाए तब सेवकों की जरूरत पड़ेगी तो कहेंगे कि प्रेम इतना बड़ा तत्व ज्ञानी और लोग मेरी सेवा नहीं करता मनुष्य को शरीर से मन से परिश्रम करना चाहिए और आत्म रूप में भी सावधान रहना चाहिए Bangladeshi. No, he got one of his families and police in the receipt of the police. No, no, no. शरीर को जाने के लिए आता है जानने से पहले करता है कोई भी मिट्टी का ढेला जब सूखने लगता है तो सूखते समय से तकलीफ तो होगी सूखेगा गीला होगा गीला होगा तब भी तकलीफ होगी सूखेगा तो रूपांतर होता है परम पूज्य श्री महाराज श्री के श्री चरण बिंदु में हम सबके सादर सष्टांग दंडवत कथा और सत्संग में क्या भेद है एक महात्मा थे यहाँ आया करते थे तो उन्होंने ऐसा विभाग किया था कि सत्संग भजन और रसास्वादन ये जो तर्क वितर्क का वाद विवाद है ये तो मन को बिगाड़ने वाला डाल दो है और सत्संग जो है वो अपनी तर्क जिज्ञासाओं तर्कों का समाधान है ये जो प्रश्न नहीं उठते हैं वो तो दो तरह के लोग होते हैं एक तो वे महामूर्ख जिनको कभी प्रश्न उठता ही नहीं है ईश्वर क्या है योग क्या है और एक वे लोग हैं जो केवल बातचीत के लिए ऐसे तर्क वितर्क करते रहते हैं उनमें कोई रहस्य नहीं असल में जिज्ञासु के लिए सत्संग जो है ये सर्वोत्तम वस्तु है और कथा जो है ये भगवत रस का आस्वादन करने के लिए भगवान की कथा सुनते जाओ और मजा लेते जाओ भगवान की कथा सुनते पहुंच गए तो फुलवारी में है? हाँ, और दो बालक बड़े सुंदर श्रृंगार किए हुए खड़े हैं और सखियां जो हैं वो देख देख के आनंद ले रही हैं तो राजकुमारों को देखकर सखियों के आंख में और हृदय में जो आनंद है और सखियों को देखकर राम के हृदय में जो आनंद है वो चीज बिल्कुल दूसरी है वो वो कथा से ही प्राप्त होती है वो वो तर्क वितर्क या सत्संग या प्रश्नोत्तर से नहीं होती वो कथा दूसरी कथा उसमें तो इससे आपको पूर्ण होगा पाप पुण्य होगा तो पाप मिटेंगे स्वर्ग में जाएंगे जैसे यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है वैसे ही कथा सुनने से स्वर्ग मिलेगा वो बात तो दूसरी है भगवान भगवत रस आता है कि नहीं वो देखना है अगर गांव के गंवार लोग सुनते हैं कि सत्संग करना बहुत बड़ी चीज है और वो जा करके सत्संग में बैठते हैं समझते तो कुछ नहीं खास नहीं समझते हैं कि सत्संग क्या होता है और कहीं न कहीं गुरु बना के हंसते हैं गुरु लोग ही सिख लालची दोनों खेल गाँव न गुरु की समझ में कुछ आता है न चेला के वैसे ही उनका दिमाग खराब हो जाता है भक्त और ज्ञानी के आनंद में मनोराज्य भी होता है या केवल भगवत भगवत अनुभूति उसका क्या रूप होता है कागज के लिए भी वह मनोरंजन उपयोगी है साधक के लिए भी कभी कभी यदि वो अपने संकल्प न बैठ सके तो मनोराज्य उपयोगी होता है ध्यान करे ब्रह्म ऐसा होता है निर्गुण है निष्क्रिय है लिखा है ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन करे वो भी बहुत कष्टकारी है और ध्यान में हो सकता हो तो जब करना चाहिए देखो एक कठिन बात है ही नहीं जो मुश्किल बोलता हाँ बना सकते कि नहीं प्रश्न किया था कि यदि ब्रह्म ज्ञान न हो और हम ब्रह्म ब्रह्म करते रहे तो हम मुक्त हो जाएंगे कि नहीं लोगों को याद होगा प्रश्न किया हरी सुधार मैंने उसको बताया कि ब्रह्म तो वो स्वयं है बाबा तो उनको ब्रह्म होना थोड़े है ब्रह्म तो तुम स्वयं हो तो चाहे जान में चाहे अनजान में कैसे भी अगर कोई अपने को